तो तुमने अपने डैड से ही मार्शल आर्ट सीखा था क्या लेकिन तुम तो उनसे बहुत अलग स्टाइल में फाइट करते हो विक्रांत ने कहा लेकिन फिर जैसे ही उसे लगा कि वो अपनी खुद की ही बातों में फंस सकता है उसने तुरंत ही बोलना बंद कर दिया उसके पास इतना टाइम ही कहा था जो वो मुझे सिखाते तुम्हें पता है मॉम और डैड अब मुझे इतनी छूट क्यों देते हैं क्योंकि वो दोनों गिल्ट फील करते हैं मैं शुरू से ही अकेले रही हूँ जैसे एक अनाथ होता है ना उसकी तरह मैं बचपन से ही अनाथ की तरह रही हूँ नैना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मॉम डैड हमेशा काम की वजह से बाहर ही होते थे और मैं अकेले ही रहती थी इस चीज का गिल्ट उन लोगों को हमेशा होता है और इसी वजह से वो दोनों हमेशा गिल्ट में होते हैं नैना अब थोड़ी इमोशनल होती जा रही थी लेकिन उसे इतनी जल्दी इमोशनल होना पसंद नहीं था सो उसने तुरंत ही विक्रांत का हाथ पकड़कर बात बदलते हुए कहा तुम मेरे डैड के बारे में इतना सवाल क्यों कर रहे हो तुम पहले से ही डैड को जानते हो ना अरे नहीं पागल हो मैं तो बस मजाक कर रहा था <laughs> विक्रांत ने फिर से बात घुमाते हुए कहा दरअसल मेरा मतलब एजेंट्स की फाइटिंग स्किल और फाइटर्स प्लेयर्स की फाइटिंग स्किल बिल्कुल डिफरेंट होती है हाँ वो तो होता ही है नैना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा एजेंट्स बहुत क्विक और शार्प होते हैं उनके पास शो ऑफ करने वाला कोई मूव नहीं होता वो लोग तो बस जान बचाने के लिए फाइट करते हैं जबकि जो फाइटर्स होते हैं उनका केस अलग होता है वो लोग तो ऑडियंस को खुश करने के लिए लड़ते हैं वो लोग तो ऑडियंस को दिखाने के लिए भी कई बार अलग अलग एक्शन दिखाते हैं अच्छा तो क्या तुम्हारे डैडी फाइट करने में तुमसे अच्छे हैं विक्रांत ने सवाल किया वो नैना से उसके डैडी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था तुम ये सब क्या पूछ रहे हो और क्यों पूछ रहे हो नैना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा जब मैं छोटी थी तब से ही मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहती थी तब मेरे डैड अक्सर मुझे सिखाने के लिए मेरे साथ मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते थे लेकिन मैं कभी उनसे लड़ी नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा लेकिन मुझे लगता है कि मैं डैड से नहीं जीत सकती अच्छा विक्रांत ने फिर सवाल किया जब तुम्हारे डैड ने मुझे अभी देखा था तो वो मुझसे काफी अजीब बिहेव कर रहे थे वो मुझे जानते हैं क्या तुमने उन्हें मेरी कोई फोटो वगैरह दिखाई है क्या अरे तुम्हारे दिमाग में अचानक से इतने सारे सवाल कहाँ से आ रहे हैं इतना सवाल जवाब नैना ने विक्रांत की तरफ थोड़े संदेह से भरे नजरों से देखते हुए कहा फिर उसने वेटर को इशारे से अपने पास बुलाकर उसके ट्रे में से दो ड्रिंक उठा लिए एक ड्रिंक उसने विक्रांत को पकड़ाते हुए दूसरे को खुद ही पीना शुरू कर दिया मुझे बस ऐसे ही क्यूरिसिटी हो रही है मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ अब हम लोग जल्दी ही शादी करने वाले हैं सो उससे पहले मुझे सब कुछ पता होना चाहिए ना हम्म, बड़ी सफाई से विक्रांत ने नैना के आगे एक और झूठ टपका दिया मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे डैड मेरे बारे में क्या सोचते हैं नैना ने फिर कुछ पल सोचने के बाद कहा सबसे पहले तो मैंने उन लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ बताया ही नहीं था लेकिन बाद में जब मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो उस वक्त तो वो बहुत टेंशन में थे और किसी काम में बिजी थे ऐसे में उस टाइम उन्होंने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि मैं उनसे क्या बात कर रही हूँ और किसके बारे में बात कर रही हूँ फिर उसने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा बाद में जब वो मुझे अपने साथ न्यूजीलैंड वाले मिशन पर ले जा रहे थे तो उससे पहले वो हर जगह से मेरी आइडेंटिटी हटाने में लगे थे उस टाइम उन्होंने मेरी पर्सनल फोटोज में तुम्हारी फोटो भी देखा था नैना ने एक सिप वाइन पीते हुए कहा और फिर बाद में जब मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ज्वाइन करना चाहती थी तब भी मैंने तुम्हारी फोटो उनको दिया था सो मुझे लगता है कि वो तुम्हें जानते हैं इतना बताने के बाद नैना फिर से मुड़कर विक्रांत की तरफ देखते हुए पूछ पड़ी लेकिन तुम तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो नैना ने वाइन की एक और घूट पीने के बाद कहा बेबी पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है मतलब बस इतने से है कि तुम अभी कैसे बिहेव कर रहे हो तुमने ही तो कहा था ना कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें खूब पसंद करेंगे वो अब तुम अपना टैलेंट मुझे दिखाओ विक्रांत ने अपना सिर हिला दिया लेकिन उसकी भौएं और चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का था जिसे देखकर कहा जा सकता था कि विक्रांत इस वक्त काफी टेंशन में आ चुका था उस एक चीज में उसे एक चीज समझ में नहीं आ रही थी आखिर जब नैना ने उसकी फोटो पहले ही अपने डैड को दिखा रखी थी तो इसका मतलब यह है कि इस दिन हॉटपॉट चिकन रेस्टोरेंट में उसके डैड ने विक्रांत को पहचान लिया था उन्होंने विक्रांत को पहचान लिया था शायद इसी वजह से उन्होंने विक्रांत के ऊपर अपनी सारी ट्रिक नहीं आजमाई थी और विक्रांत को चुपचाप जीत कर जाने दिया था लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसा था तो फिर नैना के डैड को ये बात भी अच्छे से पता रही होगी कि विक्रांत उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड है इसके बावजूद उन्होंने विक्रांत के साथ इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों किया ओए वो देखो उधर नैना ने विक्रांत का हाथ खींचते हुए उसका ध्यान फाइटिंग रिंग की तरफ करने की कोशिश की वहां पर अब काफी भीड़ जमा हो चुकी थी चारों तरफ काफी शोर मचा हुआ था अब शायद जल्द ही यहाँ पर फाइट शुरू होने वाली थी विक्रांत ने सामने देखा तो वहां से एक काफी लंबा चौड़ा विदेशी शख्स सिर्फ बड़ा सा गाउन पहने बढ़ा चला आ रहा था इस वक्त सभी फोकस लाइट ने उनके चेहरे पर फोकस कर रखा था वो धीरे धीरे फाइटिंग रिंग की तरफ बढ़ा चला आ रहा था इसके साथ ही चारों तरफ उसको चेयर्स करने के लिए शोर भी बढ़ता जा रहा था इसका नाम सनग्रोव है नैना ने विक्रांत को बताया यूएफसी की वर्ल्ड रैंकिंग में ये दूसरे स्थान पर है इसने लगातार तेईस फाइट जीतने का रिकॉर्ड बनाया बहुत गजब फाइट करता है बहुत फेमस है डैड ने बहुत पैसे दिए होंगे इसको तभी यहाँ आया है ये विक्रांत के कानों में नैना की सारी बातें तो जा रही थी लेकिन वो उस पर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहा था उसका दिमाग इस वक्त कहीं और लगा हुआ था लेकिन फिर भी उसने नैना से नॉर्मली पूछ लिया तो तुम आज इससे लड़ने वाली हो क्या नहीं पागल हो क्या मरना थोड़ी ना मुझे नैना ने जवाब दिया अच्छा देखो अब स्टार्ट होने वाला है नैना ने विक्रांत का ध्यान रिंग की तरफ खींचते हुए कहा ठीक इसी समय रिंग की तरफ छोटे कद का शख्स सिर्फ बॉक्सर पहने हुए आता दिखाई पड़ा ये दूसरा फाइटर था जो कि अभी संगरूर के साथ फाइट करने वाला था अब सारी लाइट्स का फोकस इसके ऊपर ही हो चुका था ये दूसरा फाइटर भले ही देखने में कम हाइट का था लेकिन इसकी बॉडी बहुत जबरदस्त थी ये मेक्सिको से आया है लेकिन मैं बता रही हूँ संगरूर के आगे एक मिनट भी नहीं टिक पाएगा नैना ने एक और सिर्फ वाइन पीते हुए कहा जब वो मैक्सिको वाला फाइटर रिंग में पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद संगरूर अपना मुंह पीछे की तरफ करके खड़ा हो गया ओ वाओ नैना ये देखकर खुशी से उछल पड़ी उसके साथ ही वहां पर मौजूद लोग भी जोर जोर से चिल्लाने लगे ये क्या हुआ विक्रांत ने कंफ्यूज होते हुए कहा अरे ये संगरूर का सिग्नेचर स्टेप है वो अपने कंपटीटर की इंसल्ट करने के लिए ऐसा करता है अभी देखना क्या होता है नैना ने विक्रांत को बताया वो मैक्सिको वाला फाइटर काफी एक्टिव दिख रहा था वो तेजी से संगरूर की तरफ भागते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ा लेकिन तभी संगरूर ने अचानक से उसकी तरफ घूमकर एक हाथ से ही उसकी गर्दन पकड़कर हवा में टांग दी और फिर अगले ही पल उसने मेक्सिको फाइटर को जमीन पर पटक दिया पूरा हॉल तालियों और सीटियों की आवाज से गूंज उठा वाह देखा तुमने कितनी गजब की फाइट करता है ये विक्रांत तुम भी इसी तरह के बन जाओ ना कितना मजा आएगा फिर नैना ने विक्रांत के सीने पर अपना सिर टिकाते हुए कहा तभी एक वेटर ने आकर नैना से कहा मैडम सर आपको लाइब्रेरी में बुला रहे हैं वो चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड को लेकर वहां जाएं और उनका इंट्रोडक्शन करवाएं ये सुनकर तो विक्रांत के माथे पर पसीना आ गया चलो बुलावा आ गया है अब डैड के बारे में जितने भी सवाल हैं सब उन्हीं से पूछ लेना नैना ने विक्रांत का हाथ पकड़कर चलते हुए कहा लेकिन नैना कुछ गड़बड़ हो गई तो अरे कुछ नहीं होगा इतना क्यों घबरा रहे हो बस जो पूछे नॉर्मली बता देना कोई जॉब इंटरव्यू थोड़ी ना है नैना ने कहा वैसे भी मेरे पापा बहुत फ्रेंडली है तुम उनसे अच्छे से बात करना बस देखना वो कितने खुश होंगे हाँ बस थप्पड़ ना मार दे मुझे खुश होकर विक्रांत ने मन ही मन कहा